मेरा नाम नीता है और मेरे पति नवीन बहुत अच्छे और सुलझे हुए हैं हम सेक्स का पूरा आनंद लेते हैं बातें करते हैं और पर पुरुष और पर स्त्री की कल्पना भी करते हैं मेरे पति को ऐसे ही सेक्स करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी कोई एतराज नहीं है मेरी उम्र है उनतीस साल और मेरे नवीन की उम्र है बत्तीस साल हमारी शादी को नौ साल हो गए हैं वैसे तो हमें सेक्स में ठीक ठाक मजा आता है पर हम लोग जब किसी पराये के साथ सेक्स करने की बातें करते हुए सेक्स करते हैं तो मेरा मन बहुत ही चंचल हो जाता है और मुझे किसी दूसरे के साथ सेक्स करने का मन होने लगता है वैसे मेरे पति का भी मन है कि मैं किसी और के साथ भी सेक्स के मजे लू वो कहते हैं कि सबके लिंग का आकार अलग अलग होता है और अलग अलग लिंग का मजा भी बहुत अलग अलग होता है तो दोस्तों मैं आप सभी को ये सवाल करना चाहूंगी कि सच में क्या ऐसा होता है कि अलग अलग रंग से अलग अलग मजा आता है खैर मुझे बताना जरूर लेकिन इनकी बुआ का लड़का मनोज जो अभी पच्चीस साल का ही है उसकी अभी शादी नहीं हुई है हमारे यहाँ अक्सर आता जाता रहता है क्योंकि बुआ का गांव पास ही में है और मनोज भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं इनका कहना है कि मनोज का लिंग भी बहुत अच्छा है और मेरे लिंग से बहुत बड़ा है और देखने में भी काफी सुंदर है अगर तुम चाहो तो मैं बात करूं मनोज से या तुम खुद ही सेट कर लो अगर तुम चाहो तो सच चाह तो मुझे भी हो गई है कि मैं भी कोई अलग लिंग लेकर देखूं नवीन ने मेरे मन में एक बात गुट गुट कर बती है कि अलग लिंग का अलग मजा होता है मैं वही मजा लेना चाहती हूँ खैर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मनोज हमारे यहाँ दो दिन के लिए आया हुआ था कोई परीक्षा देनी थी उसे और उसका परीक्षा का केंद्र मर यहीं था बस फिर क्या था इन्होंने भी दो दिन की छुट्टी ले ली वैसे दोनों भाइयों के बीच में काफी अच्छा प्रेम है मनोज सवेरे सवेरे आने वाला था इन्होंने फोन लगाया तो वो बोला भैया ग्यारह बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा खाना हम साथ ही खाएंगे मैंने खाना बनाया और उन्होंने परीक्षा के बाद घूमने का भी कार्यक्रम तय कर लिया कहा शाम को बाहर चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे साढ़े ग्यारह बजे तक मनोज भैया आ गए थे हमने सभी ने खाना साथ ही में खाया मैंने मनोज की पसंद का खाना बनाया था खीर आलू की मटर की सब्जी रायता और काजू कतली ये बाहर से ले आए थे दो बजे मनोज को पेपर देने जाना था नवीन उसको परीक्षा केंद्र छोड़कर आ गए आने के बाद बहुत ही रोमांटिक मुद्रा में थे साथ में दो कॉन्डम भी लेकर आए थे मुझे दबा कर कहा क्या मुझे जानू मैंने कहा जैसा आपको है वही मेरा है दिन में कभी कभी तो मौका मिलता है और ये शुरू हो गए मुझे चुमने लगे बस सेक्स शुरू होने के साथ ही हमारी बातें भी शुरू हो जाती है कि बोले आज क्या मने जानू आज तो मनोज आया है आज अपनी इच्छा पूरी कर लो तुम बहुत मजा आएगा तुम कहो तो सारा कार्यक्रम मैं तय कर देता हूँ तुमको जो ज्यादा कुछ नहीं करना है और हम ऐसे ही बातें करते करते सेक्स करने लगे मैं कल्पना की गोदी लगाने लगी और ये भी मेरे साथ सेक्स करते हुए मनोज का एहसास मुझे कराने लगे हम लोग जल्दी ही निकट आए शाम के पांच बज गए थे मनोज के आने का समय हो गया था हम लोग नहाकर तरोताजा हो गए थे मनोज आया और हमने चाय पी और निकल लिए मैंने पूछा भैया कैसा रहा तुम्हारा आज का पेपर तो वो बोले अच्छा रहा भाभी और ऐसे ही बातें करने लगे मेरी आंखों में ज़्यादा ही शरारत थी और ये बस ये भी बस रात के ही कार्यक्रम सेट करने की सोच में थे खाना खाने के बाद हम घर आ गए रात के आठ बज चुके थे बहुत ही बाहर बहुत ही सर्दी थी तो चाय का एक दौर और होना था अरे नीता चाय पी लेते हैं यार क्यों मनोज क्या मन है तुम्हारा अरे भैया बहुत मन है मैं चाय बनाने के लिए उठी तो ये बोले अरे रुको नीता मैं बना लेता हूँ और चाय बनाने के लिए चले गए शायद हमें मौका देने के लिए तो मैंने भी फालतू का फालतू बातें के साथ साथ पूछा क्यों भैया शादी कब का मन है आपको कब करोगे अब तो आपकी उम्र भी हो गई है कब कर रहे हो फिर शादी वो बोला अभी नहीं भाभी पहले मैं कुछ बन जाऊ भैया की तरह तो शादी की सोचूंगा फिर हम बातें कर ही रहे थे इतने में ये भी चाय चढ़ाकर बाहर आ गए बीच में ही बोले क्यों भाई क्या मन नहीं होता है तुम्हारा अरे होता तो है पर अब क्या करे भैया जैसा पहले चल रहा था वैसे ही अब भी काम चल रहा है मैं नहीं समझी मैंने कहा क्या मतलब क्या मतलब है तुम्हारा मनोज भैया ये तो अब आपको भैया ही बताएंगे मैं नहीं बता सकता अरे क्यों नहीं क्या बात है बताओ ना मैंने कहा क्या कोई तुम्हारी जिंदगी में है हम्म, अरे नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है मैं अभी भी असली कुवारा ही हूँ वैसे हमारी ऐसी बातें पहले भी होती रहती थी मनोज इनके सबसे निकट रहा बचपन से ही तो मेरे साथ भी जल्द ही गुल मिल गया था ये चाय छाने के लिए चले गए तो मैंने जोर दिया बोलो ना मनोज क्या बात है ऐसे काम चल रहा है वो बोला फिर कभी बताऊंगा ये कहकर बाथरूम चला गया और ये भी चाय लेकर आ गए हमने चाय पी और ये बोले या चलो अंदर आराम से लेट कर बातें करते हैं हम तीनों आराम से बेडरूम में जाकर बिस्तर में लेट गए ये बीच में थे मदर मनोज इधर और मैं उधर हमने अपने ऊपर रजाई डाल ली सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी बात करते करते इन्होंने मेरे स्तन दबाने शुरू कर दिए और मुझे सच में बहुत मजा आने लगा यार मनोज क्या होता क्या होता होगा तुम्हारे सर्दी में बिना सेक्स के ये बोल पड़े अरे भैया क्या बताओ बहुत बुरा हाल है बहुत मन करता है आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपको भाभी जैसी सुंदर पत्नी मिली है भाभी के साथ सेक्स करके आपको बहुत मजा आता होगा ना हाँ यार बहुत सुंदर है नीता और उसकी चुचिया बहुत अच्छी है कितनी सख्त है आज भी भैया सच में हाथ लगाकर देखना है क्या ये बोल पड़े ऐसा है तो सच में मजा आ जाएगा मनोज बोला और मनोज का हाथ पकड़कर इन्होंने मेरे वक्ष पर रख दिया मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं आप दोनों अरे कुछ नहीं भाभी थोड़ा सा देख रहा था ये भी बोले बेचारे को हाथ लगा लेने दे क्या फर्क करता है तुम्हें मनोज हाथ लगाने के बहाने दबाने भी लगा जब पति ही अपनी पत्नी को छुदवाना चाहे तो कोई पराया मर्द क्यों छोड़ेगा भला ये बोले मैं बाथरूम होकर आता हूँ जब तक तुम लोग बातें करो मनोज और मैं अकेले कमरे में मनोज के हाथ में मेरी छुचिया वो आराम से दबा रहा था अब वो मेरे पास आ गया और बोला भाभी कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाभी और वो जोर जोर से दबाने लगा मनोज मेरे पास आकर मुझसे सट गया और उसका लिंग मुझसे छू गया तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई मनोज का तो काफी बड़ा है मुझसे तो रहा नहीं गया तो मैंने हाथ लगा ही लिया अरे वाह मनोज तुम्हारा तो सच में बहुत बड़ा है मैंने कहा हाँ भाभी भैया का छोटा है मुझे पता है तुमको कैसे पता अरे भाभी तुमको भैया ने नहीं बताया क्या जब कभी हम दोनों साथ होते थे तो ऐसे ही एक दूसरे का हाथ में लेकर हिलाकर मन को शांत करते थे और आज भी जब भी मौका मिलता है तो हम ऐसा ही करते हैं मुझे आता है तो आज भी ऐसा ही करोगी क्या मनोज बोला नहीं भाभी आज नहीं आज तो तुम्हारे साथ करूंगा और बस उसने मेरे यूनि पर हाथ रखा तब तक मैं गिली हो चुकी थी ये भी आ गए क्या चल रहा है मनोज बोला भाभी का ख्याल रख रहा था भैया अच्छा ठीक है फिर अब तो बस करो मैं आ गया हूँ मैं रख लूंगा ख्याल मनोज को ऐसे ही चिढ़ाने के लिए वो बोल पड़े नहीं अब नहीं रुका जाता है भाभी की खूबसूरती के सामने तो मैं ऐसे ही खो जाऊंगा और फिर भाभी मना कर दे तो फिर ठीक है अरे नहीं नहीं मनोज मैं तो मजाक कर रहा था चलो थोड़ा उधर सरको मैं भी आता हूँ मज़ा दुगना हो जाएगा और दोनों ने मिलकर मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मैं खुद भी नंगी हो गई मैंने मनोज को देखा तो नवीन बोले मैंने कहा था ना कि मनोज का बहुत बड़ा है देखो मेरे भाई का लिंग आज तुमको बहुत मज़ा देगा मैंने कहा हाँ वाकई तुम्हारे भाई का सच में बहुत बड़ा है और हम खुले सेक्स के लिए तैयार थे उन्होंने कहा भाभी आप मुंह में ले लोगे क्या मैंने कहा क्यों नहीं मनोज हमारा इतना सुंदर लिंग है मुंह में ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैंने मनोज का लोड़ा मुंह में ले लिया था कितने में उन्होंने मेरी योनि में अपना लन पिरो दिया मुझे दोनों तरफ से मजा आ रहा था मनोज बोला भैया अब आप ऊपर आ जाए मैं थोड़ा देखूं कि चुप में डालने का क्या मजा होता है पहली बार चुप में डालूंगा ना इसलिए अरे क्यों नहीं आओ तुम्हारे लिए तो ये बहुत प्यासी है मेरे छोटे से लिंग को ये बहुत मज़ेदार समझती है मैं भी उसको बताना चाहता था कि इस दुनिया में अलग अलग लिंग का बहुत मज़ा आता है आओ और इसको मज़ा दो इतना कहना है था कि मनोज नीचे आया और एक ही बार में मेरी चुट को फाड़ते हुए अपना लिंग अंदर डालने लगा और मेरे मुंह से सिर्फ आवाज़ निकल गई ओह मैं मर गई मरे मनोज धीरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है वे बोले तभी तो मजा आएगा थोड़ी देर में मजा आने लगा मनोज जोर जोर से करने लगा और मैं जर गई पर वो अभी तक अपने बाहर करे जा रहा था अभी उन्होंने कहा रुको मनोज कॉन्डम लगा लो यार मनोज ने कॉन्डम लगाया और फिर से शुरू हो गया वो भी थोड़ी देर बाद चढ़ गया मैं भी उसके साथ एक बार और जल गई अभी आ गए क्यों जानू कैसा लगा मेरे भाई के साथ सेक्स मैंने कहा मज़ा आ गया पर अब तुम्हारा छोटा पड़ेगा मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया ये बोले अरे कोई बात नहीं मनोज आता रहेगा ना तुमको मजा देने के लिए तुम चिंता क्यों करती हो क्यों मनोज आओगे या नहीं अपनी भाभी के लिए अरे भैया ये आप क्या कह रहे हैं आप गए तो मैं भाभी के अंदर से कभी बाहर ही ना निकलू मुझे अचानक मिल गई है भाभी जैसी औरत पाकर मैं कभी शादी भी नहीं करूँ अगर भाभी मेरे साथ सेक्स करे और आप करने दे तो अरे क्यों नहीं मनोज ऐसे ही हम दोनों के हैं तुम जब चाहो तब कर सकते हो मेरे तरफ से तुम आजाद हो क्यों नहीं था तुम कर सकती हो क्या मनोज को मना अरे नहीं कभी नहीं मुझे सच में बहुत मजा आया और उन्होंने भी झटके लेना चालू कर दिया था मुझे तो इनके लिंग का एहसास ही नहीं हो रहा था मनोज का लिंग लेने के बाद और फिर फिर से जड़ने वाली थी और वो भी मेरे साथ ही जड़ गए आज मेरे पति ने मुझे दूसरे लिंग का एहसास कराया था अब मुझे और लिंग देखने का मन होने लगा था और मैंने कहा एक दिन अपने पति से क्यों और दूसरे लिंग और, और तरह के होते हैं ये बोले तुमको और लिंग देखना है क्या मैंने कहा हाँ। ये बोले तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए नई नए लिंग की कोशिश करता हूँ पर फिर मनोज और मेरा क्या होगा